सहनो भुन सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओ अगला श्लोक पढ़ेंगे तुल्यम यदि मनसे वरम वृणीष्व चीर जीविका च महाभूमौ नचिकेत त्वं एधि कामानां त्वां कामभोजं करोमि तीसरे वर में नचिकेता ने ब्रह्म विद्या के विषय में जानने की जिज्ञासा की और उसके उत्तर में यमाचार्य उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर स्थिरता है एकाग्रता है और वह बिल्कुल निश्चय कर चुका है कि मुझे आध्यात्म विषयों को अच्छी प्रकार से जानना है समझना है ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है उससे लाभ उठा सकता है और उस मार्ग पर चलते हुए उसको सफलताएं मिल सकती हैं क्योंकि जब लक्ष्य कठिन होते हैं तो उस मार्ग में बाधाएं भी बहुत होती हैं और उस मार्ग की बाधाओं को सहन करते हुए लगातार आगे बढ़ते ही रहना स्थिर रहना ये कठिन कार्य होता है कठिन लक्ष्य की ओर सामान्यतः व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूँगा सरल सरल और छोटे छोटे लक्ष्य प्राय व्यक्ति निर्धारित करके चलता है बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े लक्ष्य निर्धारित कर पाते हैं और उनमें भी हर प्रकार की बाधाओं को पार करते ही जाना कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए स्थिर बने रहना ये और विरले लोग ही होते हैं इसलिए यहाँ पर उसी कामनाओं की एक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सांसारिक कामनाएं कितनी हैं सांसारिक कामनाएं प्रबल नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आध्यात्म की ओर चल सकता है और उसी प्रसंग में एक और श्लोक कहा एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम का हे नचिकेता जो तुमने मुझसे वर मांगा है इसको छोड़ दो और इसके समान और कोई वर की इच्छा हो तुमको यदि कि इसको छोड़कर इसके समान ही मैं कोई और वर मांग लूँ ऐसी इच्छा हो तो कहा कि उसको मांग लो वृणीश्वर क्या मांग लो कृवित्तम धन मांग लो जितना धन चाहिए उतना धन की चाहना कर लो चीर जीविकांच और केवल एक बार में धन मिल जाए ऐसा नहीं है जब तक तुम जियो तुमको धन सदैव प्राप्त होता ही रहे ऐसी व्यवस्था चाहिए तो वो भी मांग लो तो इतना जान विज्ञान यमाचार्य के पास में था इतना प्रभाव उनका रहा होगा उसी आधार पर उसको कह रहे हैं कि जो भी सांसारिक कामनाएं हैं वो सारी धन से पूरी होती हैं तो धन मांग लो स्थिर जीविका का उपाय मांग लो कह करें इस पूरी भूमि पर तुम्हारा अधिकार हो जाए पूरी माने बहुत बड़े भूभाग पर तुम्हारा अधिकार हो जाए नचिकेता तो मेधी कह रहे ऐसी कोई चीज़ें मांग लो कामानाम त्वाम काम भाजम करोमी कह जितने भी और मैं तो ये कुछ बातें कह रहा हूँ इससे अतिरिक्त और भी तुम्हारी कोई कामनाएं होंगी तो उन समस्त कामनाओं को तुम मुझसे मांग लो उन कामनाओं को पूरा करने वाला मैं तुमको बना दूंगा मैं तुमको ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी इस वर को छोड़ दो और इस वर को छोड़ करके और जो भी कामनाएं हों वो सारी की सारी तुम मुझसे मांग लो वो सब मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा ये उसको प्रलोभन दिया और भी प्रलोभन दे रहे हैं आगे कहते हैं ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामान छंदत प्रार्थयस्व इमा रामा संसा सतोरिया नहीं ईदृशा लंभनिया मनुष्य आभि मत प्रताभि प्र, परिचारयस्व नचिकेतो मरणम माँ अनुप्राक्षी ही और भी उसके सामने प्रलोभन रखे का ये ये कामा दुर्लभा मरते लोके कह रहे जो ये मरते लोक है यानी मरणशील लोक है जहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस मृत्यु को प्राप्त होने वाले इस लोक में ये ये कामा हाँ, करे जो जो कामनाएं दुर्लभा हाँ, दुर्लभ हैं बड़े कठिनाई से प्राप्त होती हैं उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अत्याधिक पुरुषार्थ करना होता है सांसारिक ऐश्वर्य अनेक प्रकार के हैं संसार में सामान्य स्तर के हैं मध्यम स्तर के हैं बहुत उत्कृष्ट स्तर के हैं तो करें जो बड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को प्राप्त होते हैं धनपतियों को प्राप्त होते हैं अरबपति खरबपतियों को प्राप्त होते हैं ऐसी सारी इच्छाओं की मैं तुम्हारी पूर्ति कर दूंगा कह रहे लेकिन क्या करो ये ब्रह्म विद्या की बात को छोड़ दो कह रहे सर्वान कामान वो सारी कामनाएं छंदतः करे एक एक करके प्रार्थया बोलते चले जाओ बस बोलते चले जाओ मैं पूरी करते चले जाऊंगा कोई कामना अपने मन में मत रखो जो भी मन में आ रहा है बोलते चले जाओ धन चाहिए और सांसारिक जो भी कामना चाहिए दीर्घायुष्य चाहिए भूमि चाहिए कह रहे जो भी चाहिए सब मांग लो मेरे से और इमा रामा सरथा सतुरिया कह रहे स्त्रियाँ चाहिए सेवा करने के लिए या बहुत सारे वाहन चाहिए रथ चाहिए न ही ईदृशा लंभनिया मनुष्य ही कह सामान्य मनुष्यों को ऐसा मिल ही नहीं सकता है बहुत विशेष राजसी पुरुषों को इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं कह इसको तुम मेरे से मांग लो और जाकर के परिचार अपनी सेवा कराओ और सुखी होकर के ठाट से रहो कोई चिंता नहीं है आराम के साथ में रहो फिर नचिकेता मरणम अनुप्राक्षी फिर मृत्यु के बारे में मत पूछो कि आत्मा है कि नहीं है मृत्यु के बाद में क्या होगा ईश्वर है कि नहीं है मुक्ति क्या है कैसे मिलती है कह रहे ये सारी ब्रह्म विद्या का तुम मेरे को मत पूछो और इसके बदले में और तुमको जो चाहिए वो सब ले लो तो ये प्रलोभन उसके सामने रखे गए तो इन प्रलोभनों के रखे जाने पर नचिकेता क्या जवाब देता है अगले श्लोक में कहते हैं अच्छा, वादन संगीत के वाद्य यंत्र हैं हाँ बजाने वाले तूरी होता है वो तूरी बोलते हैं संस्कृत में उसको कहते हैं शोभावा मर्त मर्त्यस्य यदंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयति तेज अभी सर्व जीवित अल्पमेव तव एव वाह तव नृत्य गीते तो एक जवाब दिया उसने और वो जवाब उसकी स्थिरता का परिचायक है क्या कहा कह रहे अंतक हे यमाचार्य केरे शोभावा मर्त्यस्य केरे ये जितने भी आपने प्रलोभन मेरे सामने रखे हैं ये सांसारिक कामना जितनी भी आपने मेरे सामने रखी का सर्वेंद्रियाणम जरयती तेज ये समस्त इंद्रियों का तेज हर लेगी आज इंद्रियों में जो सामर्थ्य है वो सारा सामर्थ्य खत्म हो जाएगा कह रहे कब खत्म हो जाएगा शोभावा करे कल ही खत्म हो जाएगा दो दिन भी नहीं रहेगा इतने सारे इंद्रियों का भोग तुमको मुझको दोगे तो मेरी इंद्रियां तो कल ही खत्म हो जाएंगी इनके भोगने का सामर्थ्य ही नहीं रहेगा पदार्थ तो दे दोगे लेकिन उन पदार्थों को भोगेंगे कहाँ से उसको भोगने का सामर्थ्य इतना भोग करेंगे इतना भोग करेंगे तो ये रहने वाली नहीं है इंद्रियाँ शिथिल हो जाएंगी और जब इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर और कहते हैं कितना ही आप कह रहे हो कि दीर्घायुष्य ले लो बहुत लंबी आयु का राज मुझसे जान लो कह रहे आप ही सर्वई जीवितम अल्पम वगैरह कितनी आयु दे दो कम ही रहेगी वो सौ साल की दो दो सौ की दो पाँच सौ की दो हज़ार की दो कह रहे कितनी भी दे दो उसकी सीमा तो रहेगी ही और सीमित आयु तो नहीं दे सकते कि अनंत काल तक जीते रहो ऐसा तो नहीं हो सकता है तो कितना ही दे दो उसकी अपनी सीमाएं हैं तो ये एक चिंतन यहाँ से मिलता है कि भोग अत्याधिक भोग वो हमारी इंद्रियों के तेज को अत्यंत शीघ्रता के साथ में समाप्त कर देता है तो ब्रह्म विद्या की ओर जाना है तो ये चिंतन आवश्यक है ये चिंतन जब करेंगे इस बात को समझेंगे कि जितना अधिक भोग उतनी इंद्रियों का अल्प सामर्थ्य ये बात निश्चित है इसलिए भोग उतना ही होना चाहिए जितना जीवन के लिए आवश्यक है चाहे वो खाना हो चाहे वो पीना हो चाहे वो बोलना हो चाहे वो सुनना हो इंद्रियों का विषय के साथ में संबंध वो आवश्यक होना चाहिए सीमित होना चाहिए संयमित होना चाहिए उसे मिलना कुछ नहीं है जितने समय तक कम भोग करते हुए चलेंगे उतना तेज अधिक समय तक बना रहेगा और जितना अत्याधिक भोग होगा उतना इंद्रियां शिथिल शीघ्रता के साथ में होती चली जाएंगी इसलिए जो अत्याधिक भोग की ओर जाने वाले लोग हैं उनको सुख नहीं मिलने वाला है इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी और फिर इंद्रियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वो और कुछ प्रयास करेंगे उसके और दुष्परिणाम आएंगे इसलिए वो सांसारिक कामनाओं से कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं हैं सांसारिक साधन मेरी इच्छा को पूरी कर नहीं सकते हैं और क्या चिंतन दिया कि दीर्घायु के लिए प्रयास करो खूब प्रयास करो और कितना ही प्रयास कर लो वो सब की सीमाएं हैं तो भोग तो असीम है भोग की सीमाएं नहीं हैं लेकिन दो चीज की सीमाएं हैं एक भोगने का साधन वो सीमित है इंद्रियां और दूसरा ये जो भोग के साधन की जो आयु है वो सीमित है वो उसको अनंत काल तक बढ़ाया नहीं जा सकता है कितना भी शरीर की आयु को बढ़ाते चले जाएं वो असीमित नहीं होने वाला है तो इसलिए ये दो प्रकार के चिंतन यदि व्यक्ति करें कि एक तो मेरा शरीर और दूसरा इंद्रियां इनका सामर्थ्य लगातार घटता ही चला जाता है रोज रोज घटता है इसका सामर्थ्य रोज कम ही होता है और एक अवस्था के बाद में बढ़ना तो कुछ होता ही नहीं हरास ही होता है इस ये एक चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए यदि ब्रह्म विद्या की ओर वो जाना चाहता है तो शाब्दिक ज्ञान को प्राप्त करना एक अलग बात है प्रवचन सुनना प्रवचन अच्छे लगना वो शास्त्र अच्छा लगना वो सब चीज़ें अलग है कि हम उस प्रवचन को सुनते हैं प्रेरणाएं मिलती हैं अच्छा लगता है लेकिन अंततोगत बात उपलब्धि की है और उपलब्धियां बिना व्यवहारिक स्तर के होती नहीं हैं और व्यवहारिकता के लिए प्रयास व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है स्वयं करेगा तो व्यवहार में चीज़ें आएंगी व्यवहार में लाने के लिए कोई किसी को बलात् प्रेरित नहीं कर सकता करा नहीं सकता क्योंकि ये सारा भीतर का विषय है मन का विषय है वाणी से कोई किसी को मौन ही तो करा सकता है उसके मन में क्या चलेगा वो तो उसकी मर्जी है उसके लिए तो कोई नियम नहीं बन सकते हैं इसलिए चूंकि ये सारा विषय भीतर का है अंतकरण का है तो मन में किस प्रकार से विचार लेकर के आने हैं मन में किस प्रकार से कुसंस्कारों को निर्मल करना है विद्या को आगे बढ़ाना है वो सारे के सारे जो प्रयास है वो खुद ही करने होते हैं इसलिए यहाँ व्यवहारिक स्तर पर उसको लेके आना वो व्यक्तिगत प्रयास से ही संभव है इसलिए सांख्य दर्शन के अंदर एक सूत्र आया कि न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि कर सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है कितना ही सुनते रहो वर्षों सुनते रहो सारा जीवन सुनते रहो कुछ होना कुछ नहीं मिलना कुछ नहीं उससे हाँ इतना अच्छा है कि समय जो व्यर्थ के काम में लगना चाहिए वो नहीं लगेगा शिविर में नहीं आते तो क्या कर रहे होते जो रोज का जीवन चल रहा था वही चल रहा होता लेकिन यहाँ आने से इतना अच्छा है कि साधना हुई मौन हुआ बहुत सारा दिनचर्या ठीक रही इतना अच्छा हो गया लेकिन अब आगे उन्नति करनी है जो कुछ सीखना है बढ़ना है विवेक को बढ़ाना है वैराग्य बढ़ाना है ईश्वर को आत्मा को समझना है वो व्यक्तिगत प्रयास से ही होगा उसके लिए सहायक व्यक्ति हो सकता है सहयोग करने वाला हो सकता है लेकिन इस चिंतन को अपना चिंतन बना लेना वो स्वयं के प्रयास से होगा ये तो हम शास्त्रों का चिंतन सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं कि शास्त्र क्या बोलता है शास्त्र का चिंतन विवेक के विषय में वैराग्य के विषय में भोग के विषय में क्या है वो हम समझ रहे हैं या नचिकेता का चिंतन हम कह लें कि वो हम नचिकेता का चिंतन क्या है वो समझ रहे हैं लेकिन वो नचिकेता का चिंतन मेरा चिंतन बने ये प्रयास करना है और वो स्थिति वो प्रयास उसके लिए समय लगाना होगा पुरुषार्थ करना होगा इस प्रकार के जीवन को लंबे समय तक जीना होगा चाहे ब्रह्मचर्य रूप में जिए चाहे वो वानप्रस्थ के रूप में जिए किस रूप में जीना चाहते हैं वो अपने आयुष्य रुचि निर्णय के ऊपर निर्भर करता है लेकिन उसके बिना नहीं होने वाला है सात दिन में तो ये समझ में आता है कि ये अच्छे विषय हैं ये जीवन के लक्ष्य होने चाहिए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए प्रयास करना चाहिए ये बात समझ में आती है तो अब ये सारी स्थितियाँ नचिकेता का चिंतन और क्या कहता है आगे श्लोक में पढ़ेंगे न तो- अच्छा एक पंक्ति बची है एक बची है कहा कि तव एव वाहा बड़ा अच्छा जवाब है कह रहे तव नृत्य गीते कह रहे तुम्हारे जो ये नृत्य और गीत है गाना बजाना है तव ए वहा करे तुमको ये मुबारक हो मुझे नहीं चाहिए तो ये नाच गाने आप अपने पास ही रखो मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए और एक बात कही न वित्तेन तर्पणियों मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावद आशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वर्णीय स एव बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है सुनी होगी आपने का न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कह रहे धन की बात आप मुझे कह रहे हैं कि बहुत धन ले लो कह रहे धन से तृप्ति कहाँ होती है हजार है तो दस हजार चाहिए फिर लाख चाहिए दस लाख चाहिए अरब चाहिए खरब चाहिए और खरब हो जाए तो फिर विदेश भागना पड़े देश में तो कोई रहने देगा नहीं तो कहते हैं कि भाई वित्त से कहाँ तृप्ति होती है कितना ही वित्त हो जाए जीवन में शांति नहीं हो सकती तृप्ति नहीं हो सकती तो धन की बात तो उसको कही कि इससे तृप्ति नहीं होगी नृत्य गीत का भी जवाब दिया ये तो मुझे चाहिए नहीं और बड़े अच्छे जवाब दिया कह रहे दीर्घायुष्य की आप बात कर रहे थे कह रहे और धन की भी आपने बात की तो मुझे तो उसमें इतनी रुचि नहीं है हाँ जीवन को जीने के लिए धन चाहिए वो आपकी कृपा से मिल ही जाएगा अब आपके पास आ ही गए हैं तो जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन तो मिल ही जाएगा इतनी तो आशा है ही वो व्यवस्था तो आप कर ही देंगे कहते लपस्या में वित्तम करे वो तो मिल जाएगा धन तो मिल ही जाएगा धन कहाँ जाता है तो अद्राक्षम चेत त्वया जब आपने हमको देख ही लिया है तो आपकी कृपा हो ही जाएगी और जब आपकी कृपा हो जाएगी तो जीवन चलाने के लिए पर्याप्त धन मिल ही जाएगा कोई उसकी चिंता नहीं है और आप दीर्घायुष्य की बात कर रहे थे तो वो भी आप बता ही देंगे ये चीज़ें अलग से क्यों मांगे वो तो साथ में मिल ही जाएगी जब आप ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे तो इन सब के बारे में तो अपने आप बता ही देंगे फिर जीवित श्यामो यावत आशीष शशि जब तक आपकी इच्छा होगी जी भी लेंगे तो वो भी मिल ही जाएगा इसलिए इन सब चीज़ों में अपना वर मांग के क्यों बात खराब करनी तो कहते हैं इसलिए वरस्सु वर तो मुझे वही चाहिए जो मैंने कहा था स एव वर्णीय करे वही चाहिए ब्रह्म विद्या का उपदेश ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे और बाकी चीज़ों से क्योंकि तृप्ति नहीं हो सकती वो कितना ही मिल जाए वो जीवन के अंदर कम ही है इसलिए मुझे अपना वर ही चाहिए ये स्थिरता है उसके अंदर इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ या स्थित धी जिसकी बुद्धि स्थिर है बुद्धि की स्थिरता मतलब एक लक्ष्य को समझ लिया है उसने और समझने के बाद बस यही करना है और कुछ नहीं करना है निर्विकल्प जिसको हम कहते हैं विकल्प नहीं है ये भी कर लू वो भी कर लू थोड़ा ये भी कर लू थोड़ा वो भी कर लू ऐसा नहीं है बस यही करूंगा और कुछ नहीं करना है ईश्वर ही चाहिए ब्रह्म विद्या को ही पढ़ना है तो जो व्यक्ति एक लक्ष्य बना लेता है कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है वो सफल हो जाता है लेकिन जो दस प्रकार के लक्ष्य बनाता है विद्यार्थी भी कई होते हैं दस जगह के फॉर्म भर देंगे ये भी थोड़ा कर लेता हूँ इसको भी देख लेता हूँ उसको भी देख लेता हूँ वो कभी सफल नहीं होता एक लक्ष्य बना के चलता व्यक्ति नहीं मुझे यही करना है वो उसके लिए समर्पित होता है पुरुषार्थ करता है भागता है दौड़ता है वो उसमें सफल हो जाता है इसलिए स्थित प्रज्ञ होना चाहिए स्थित बुद्धि होना चाहिए एक लक्ष्य में स्थिरता होनी चाहिए उसके लिए स्वयं का चिंतन चाहिए समय लगाना होगा खुद को समझने के लिए सुनने के बाद जो अगला प्रयास है वो समझना है वो समझ खुद की होनी चाहिए मेरे को समझ में आना चाहिए उसी का नाम विवेक है जो विवेक की हम बात करते हैं विवेक कहिए चाहे वैराग्य बोलिए एक ही बात है तो उसका मतलब क्या है वो स्वयं की समझ ही है कि मेरे को समझ में आ गया कि संसार में दुख ही है वो है मेरा विवेक खुद को समझ में आ गया कि नहीं धन से तृप्ति नहीं होने वाली है वो तो है मेरा विवेक और ये जो बात मैंने पढ़ी और आपने सुन ली वो क्या है शाब्दिक जान है मैंने नहीं समझा तो मेरे लिए भी शाब्दिक है आपने नहीं समझा तो आपके लिए भी शाब्दिक है तो वो शाब्दिक जान है उसे कुछ नहीं होता है उसे कोई उपलब्धियां नहीं होती बल्कि व्यक्ति और क्या होता है दुविधा में जीता है न वो धन ही कमा सकता है क्योंकि उसके मन में कहीं बना रहता है कि धन से तृप्त नहीं होता तो वो धन भी नहीं कमाता और चूंकि उसकी समझ नहीं बनी है इसलिए वो वैराग्य की ओर भी नहीं जाता वो दुविधा में बीच में जीता रहता है कि धन कमाऊं कि नहीं कमाऊं तृप्ति होगी कि नहीं होगी तो फिर क्या बोलते हैं ना माया मिली ना बस वो बीच में उसका जीवन रहता है ना सांसारिक सुख मिलता है ना आध्यात्मिक सुख मिलता है इसलिए व्यक्ति को एक तरफ होके जीना चाहिए तो आध्यात्मिक चिंतन के लिए सारी बातें हैं इतने सारे श्लोक पढ़े उसमें बहुत सारे चिंतन आए हमारे सामने निकल के तो उनको बार बार व्यक्ति को करते रहना चाहिए उससे वो स्वयं की समझ बनती है और कहा कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए वही का वही वर मुझे चाहिए और आगे बोलते हैं अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घी जीविते को रमेत और बोलते आगे अरे अजीर्यताम नाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य वधस्थ प्रजानन करे बिना जीर्ण हुए क्योंकि जब भोगों को भोगेंगे तो जीर्णता होगी यानी शक्ति सामर्थ्य कम होता चला जाएगा तो कह रहे बिना शक्ति सामर्थ्य कम हुए इस सांसारिक भोग विलास में कौन व्यक्ति लंबे समय तक रह सकता है तो कह रहे कोई भी नहीं रह सकता जीर्णता तो होगी ही यानी लगातार क्षमताएं कम होती चली जाएंगी ही तो जो भी बात रखी गई भोग का एक प्रलोभन दिया गया तो कह रहे हैं इन सबसे केवल मात्र क्या होगा कई बार आप पढ़ते हैं ऋषियों के संदेश में कि भोगों को भोग करके सांसारिक सुख की कामना ऐसी ही है जैसे अग्नि में घृत डालते रहना तो वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली कितना ही वर्षों तक व्यक्ति सारा जीवन भोग करता रहे वो कामनाएं बढ़ती ही चली जाएंगी कभी कम नहीं होंगी और साथ में शक्तियां क्षीण होती चली जाएंगी सामर्थ्य कम होता चला जाएगा इसलिए कहते हैं प्रजानन इन सबको जानते हुए जब मैं जान रहा हूं कि शक्तियां कम होंगी क्षीणताएं आएंगी तो फिर आपके द्वारा जो दिए गए प्रलोभन है उसमें मैं क्यों पढ़ूं मैं क्यों उन चीज़ों की इच्छा करूं जबकि मैं इस बात को समझता हूं जानता हूं कि उससे क्षय होगा शरीर का नाश होगा और कहा अति दीर्घ जीवित को रमेत बहुत लंबे समय तक जीते हुए इन भोगों में कौन पड़ा रह सकता है कोई नहीं रह सकता है कि भोगों को भोगता भी रहे भोगता भी रहे और लंबे समय तक जीता भी रहे ऐसा संभव ही नहीं है जब भोगों को अत्याधिक भोगेगा तो दीर्घायु तो हो ही नहीं सकती है संयमी व्यक्ति ही दीर्घ अवस्था तक जी सकता है इसलिए कह रहे दीर्घायु तो वैसे ही नहीं होने वाली यदि भोगों को इतना सारा मैं भोगता रहा तो इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए मुझे कोई प्रलोभन नहीं चाहिए मैं इन चीज़ों की ओर नहीं पढ़ना चाहता वर्ण रति प्रमोदान और कह रहे ये सब स्त्री प्रसंग में पढ़ करके तो कोई व्यक्ति दीर्घायु को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए आपके प्रलोभन नहीं चाहिए मुझे केवल ब्रह्म विद्या का उपदेश चाहिए और इस प्रथम वल्ली का अंतिम श्लोक है उसके बाद में प्रथम वल्ली समाप्त होती कहते हैं यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यंपराय महति ब्रूहि नस्तद् यो अयम वरो गूढम् अनुप्रविष्टो नान्य तस्मा नचिकेतो वृणीते करे न अन्य करे अन्य कोई नचिकेतो नचिकेता वृणीते वर नहीं मांगता आपसे कह रहे मुझे और कोई वर नहीं चाहिए क्यों कह रहे कोयम परो गुढ़म अनुप्रविष्ट और उसके पहले कहा कि यस्मिन इदम विच की संति जिस विषय में संशय है आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा आप बोल दो आत्मा नहीं है तो फिर तो भोगों की ओर ही जाएंगे फिर क्या करना है लेकिन यदि आत्मा है तो फिर इस भोग की ओर क्यों जाना तो ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं एक ईश्वर है दूसरा ईश्वर नहीं है तो इन दो प्रकार की विचारधाराओं के आधार पर ही दो प्रकार के वाद सिद्धांत एक आध्यात्मिकवाद एक भौतिकवाद शून्य भौतिकवाद कोरा भौतिकवाद जहां धर्म ईश्वर इन सबको कोई मान्यता ही नहीं है तो कहा कि इस विषय में जब संशय बना हुआ है मुझे कि ईश्वर है कि नहीं है इस जीवन के बाद में क्या होता है विवेक क्या है वैराग्य क्या है समाधि क्या है और कहा कि है यमाचार्य मैं इस संशय को तो दूर करने आया हूं और ये संशय कैसा है कह रहे यह सांपराय महति ब्रूही कह रहे कि उस विषय में आप ही तो मुझे बता रहे हो क्या बता रहे हो कि ये लोग कैसा मरते लोग हैं यानी यहां मृत्यु होनी ही है और आप ही मुझे प्रलोभन भी दे रहे हो एक तरफ ये कहते हो कि इस मृत्यु लोक में जो जो चाहिए वो मांग लो दीर्घायु मांग लो तो दीर्घायु मांग भी लो तो है तो मृत्यु लोक ही मरूंगा तो फिर भी तो इसलिए जब ये है ही मृत्यु लोग तो फिर मृत्यु के बारे में उपदेश क्यों नहीं करते हैं आप मुझे तो मुझे तो वो मृत्यु के बारे में बता दीजिए जिसके कारण से आप इस लोक को मृत्यु का लोक कह रहे हैं वही वर मुझे चाहिए योयम वरो गूढ़म कह रहे वो बड़ा कठिनाई से समझने योग्य आपने कहा था तो इसलिए और मुझे किसी बात को जानने की इच्छा नहीं है बस यही ब्रह्म विद्या ही मुझे चाहिए वो ब्रह्म विद्या क्या ये सब हम जानते ही हैं ईश्वर के विषय में आत्मा के विषय में प्रकृति के विषय में वो सब हमने वर्षों तक सुना ही है उसमें कोई नई बात नहीं है ये प्रथम वल्ली है उसके बाद में जो और वल्लियाँ हैं उसमें वही उपदेश किया गया है क्या उपदेश है ईश्वर कैसा है व्यापक है अनंत है ये संसार अनित्य है आत्मा नित्य है शरीर समाप्त हो जाएगा वही सारी बातें हैं उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं और कोई अलग से ब्रह्म विद्या नहीं है लेकिन उसके लिए जो ये प्रथम वल्ली है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी कि उस ब्रह्म विद्या के लिए पात्रता कौन सी है योग्यता कौन सी है उसके बिना वो उस ब्रह्म विद्या का व्यवहारिक स्तर कुछ भी नहीं है तो इसलिए सबसे पहले करना क्या है कि उस योग्यताओं को जीवन में लेकर के आना है काफ़ी समय से शिविरों में आ रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है कि आप आ रहे हैं बहुत समय से और बहुत समय प्रयास करते करते आप, आप आपने जीवन में कुछ पाया भी है तो उस और गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है घर पे रह के प्रयास करें यहां भी बीच में आप आ सकते हैं आपके आसपास में कोई एकांत स्थान आश्रम गुरुकुल है वहां जा सकते हैं लेकिन समय थोड़ा चिंतन के लिए लगाना होगा स्वाध्याय के लिए लगाना होगा क्योंकि ये सब चीज़ें क्षणिक होती हैं शंकराचार्य ने कहा है कि श्मशाने सत्संग या बुद्धि शायद तिष्ठे चेत कोनमुच्चेत बंधनात् कि सत्संग में और शमशान में जाकर के जो बुद्धि का स्तर बनता है वो यदि स्थिर हो जाए तो इस संसार से कौन मुक्त नहीं हो जाएगा लेकिन मुक्ति के लिए होती क्यों नहीं क्योंकि वो बुद्धि का स्तर स्तर स्थिर नहीं रहता है और तो जब तक शमशान में है तब तक तो व्यक्ति बात करता है मृत्यु की मृत्यु की वहां से निकलने के बाद में वो भूल जाता है फिर ऐसे ही सत्संग है शिविर है यहाँ अच्छा लगता है यहाँ विषय भी अच्छे लगते हैं जीवन का लक्ष्य भी पता चलता है सब कुछ अच्छा ही लगता है खराब तो कुछ नहीं होता है लेकिन उसूर प्रवृत्ति होना उसके लिए प्रयास करना वो पुरुषार्थ उसमें करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा कि इन आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है जो भी ये ग्रंथ यहाँ से आप पढ़ ले जाएंगे पढ़ेंगे जो आपको मिले हैं या जो तो इसके ऑडियोज है वो सुनेंगे आप और रोज़ रोज आवश्यक है रोज उसको सुनना रोज उसके साथ में जुड़े रहना ये आवश्यक है नहीं तो क्या होगा कि यहाँ से जाने के बाद दस बीस दिन महीना दो महीना तो बड़ा अच्छा चलता है दिनचर्या भी होती है उपासना भी होती है संध्या भी होती है स्वाध्याय भी होता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक चीज़ करके बंद होती है फिर वो सब बंद हो जाता है तो वो अपने आप को ऊर्जावान बना के रखना अपने आप को संकल्पवान बना के रखना इसके लिए स्वाध्याय बड़ी आवश्यक है कि स्वाध्याय व्यक्ति रोज करता रहे क्योंकि किसी चीज से दूर हो जाना सरल है मूर्ति पूजा खराब है करके उसको छोड़ दिया वो सरल काम है छोड़ दिया हमने वो हट गए लेकिन उसके बाद किया क्या एक नकारात्मक चीज हट गई ठीक है लेकिन सकारात्मक क्या किया क्या संध्या शुरू कर दी नहीं कर दी तो जो है वो तो छोड़ दिया वो अच्छा है लेकिन बीच में आके व्यक्ति खड़ा हो गया और बीच में आके खड़ा हो गया तो एक बुराई तो जरूर हट गई लेकिन कोई ही जीवन के अंदर नहीं आई उन्नति नहीं हो रही है तो बीच में आकर के खड़ा हो जाना वो बड़ा हानिकारक होता है कि उसने मंदिरों में जाना छोड़ दिया वहाँ पर चढ़ावा छोड़ दिया लेकिन उसके बदले जो और कहीं पर दान करना चाहिए वो भी बंद कर दिया उस तो वो अशुभ कर्म तो बंद हो गया लेकिन क्या हो गया वो कर्म करना ही बंद कर दिया तो वो जो कर्म को करना ही बंद कर दिया वो बड़ा हानिकारक है खराब चीजें नहीं पढ़ रहा वो अच्छा है बंद कर दिया लेकिन अब कर क्या रहा है पढ़ना ही बंद कर दिया पढ़ना ही छोड़ दिया तो वो जो चीज़ें बीच में आकर मध्यस्थ व्यक्ति बन जाता है वो बड़ा हानिकारक होता है इसलिए वो मध्यस्थ नहीं बनना चाहिए कुछ अपनाना भी वहां व्यक्ति को चाहिए भले वो समय अभाव है समय अल्प है तो एक ही चीज़ को अपना ले बहुत सारा ढेर पूरा व्रत पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है ये भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा सबसे नीचे मैं सारे व्रत ही छोड़ दूंगा क्योंकि सारे होने तो है नहीं इसलिए वो एक चीज़ को व्यक्ति दृढ़ता के साथ में पकड़ के चलेगा तो सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं अब केवल एक संकल्प कर लीजिए मैं क्रोध नहीं करूंगा तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी मुझे चॉकलेट नहीं खानी है तो क्या है कई सारी चीज़ें छूटेंगी केवल चॉकलेट नहीं छूटेगा उसके लिए जो प्रेरणा करने वाले साथी वो भी छूट जाएंगे उस दुकान की ओर जाना भी छूट जाएगा उस समय भी उसके लिए जो व्यर्थ करते थे वो भी छूट जाएगा वो चिंतन भी जो बार बार आता था वो भी छूट जाएगा वो जो पैसे खर्च बेफिजूल के होते थे वो भी छूट जाएंगे तो एक चीज़ के पीछे पचास चीज़ छूट जाती हैं इसलिए ये स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान आता रहे विद्या आती रहे बड़ा आवश्यक है तो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए वो ब्रह्म विद्या वही है खुद की प्राप्ति तो स्वयं उस चीज़ को प्राप्त करना है स्वयं को उस विवेक के स्तर पर लेकर के आना है उसके लिए समय अपेक्षित है समय लगाना चाहिए और जितना समय लगाएंगे उतना हमको वो बात समझ में आएंगी ये कठोपनिषद कि पहली वल्ली हमने यहाँ पर पढ़ी है आने वाले शिविरों में अब फिर दोबारा आए तो फिर आगे पढ़ेंगे दूसरी वल्ली पढ़ेंगे दूसरी वल्ली पढ़ लेंगे तो आज यहाँ विराम देते हैं ओ